कृष्ण यजुर्वेदीय काठक उपनिषद कठ शाखा में होने से काठक उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का यह शांति मंत्र है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति ओम यह परब्रह्म का प्रतीक है वाचक भी है तस्य वाचक प्रणव इसके स्मरण करके ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करके शांति पाठ वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है कोई भी मंत्र उच्चारण किया जाता है और उपनिषद श्रवण ये अंतरंग साधने ब्रह्म विद्या प्राप्ति का ब्रह्म विद्या है मुक्ति का साधन और ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधि ध्यान तीन ये साधना तीनों में श्रवण प्रधान है अंगी है क्योंकि श्रवण के द्वारा वेदांत प्रमाण का तात्पर्य निश्चय होता है प्रमाण से ही ज्ञान होता है प्रमाकरणम प्रमाणम ज्ञान प्रमाण से होता है महावाक्य वेदांत प्रमाण से और प्रमाण से ज्ञान होने के लिए वेदांतों का तात्पर्य निर्णय करना पड़ता है किसी में तात्पर्य है तो वो कोई उसको अर्थ करेंगे महावाक्य का अर्थ उपासना करने के लिए मैं ब्रह्म नहीं ऐसा चिंतन करो तो आदि प्रांत आदि अंत सब विचार करने से वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानत ब्रह्मात्मनिव तात्पर्यम इति धि श्रवणम भवेत ऐसे वेदांत आदि मध्य अंत में सर्वत्र पूरा विचार करने से जीव ब्रह्म की एकता में ही वेदांतों का तात्पर्य ऐसा निश्चय करना निश्चय होना यही श्रवण का फल है श्रवण ही तो इस श्रवण से तात्पर्य निर्णय होने पर ही महावाक्य का अर्थ जीव ब्रह्म की एकता तुम ब्रह्म हो ये एकत्व पर प्रत्यक्ष लगता है तो मैं अल्पज्ञ हूँ परिचिन हूँ ब्रह्म कैसे तो जब वाच्यार्थ में जीव ईश्वर में भेद है जीव अल्पज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ अभेद नहीं हो सकता है किंतु श्रुति कहती प्रमाण वाक्य है प्रमाण वाक्य होने से यदि विरोध लगता है तो वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ता है लक्ष्यार्थ लेकर के एकत्व बोध होता है इसलिए श्रवण करने से ही तात्पर्य निर्णय होता है तात्पर्य निर्णय करने पर वाच्यार्थ में एकत्व नहीं हो सकता है तो लक्षणा के द्वारा एकत्व बोध यही ज्ञान है इसलिए श्रवण प्रधान है श्रेय कार्य में विघ्न संभव है बहुत श्रेयांशी बहु विघ्नानी प्रसिद्ध है विघ्न निवृत्ति के लिए शांति पाठ किया जाता है मंगल कार्य करने के लिए शांति पाठ करके परमात्मा की प्रार्थना करके प्रारंभ करने से निर्विघ्न कार्य संपन्न हो कुछ भी शुभ कार्य करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना विघ्न निवृत्ति के लिए करनी चाहिए तो ये विघ्न निवृत्ति के लिए पहले शांति पाठ वेदांत में यद्यपि एक अद्वितीय ब्रह्म है पारमार्थिक तो भी व्यावहारिक जीव ईश्वर भेद व्यावहारिक भेद है ईश्वर उपास्य है जीव उपासक है ईश्वर देवताओं की कृपा से ही जीव श्रवण मनन कर सकता है नहीं तो विघ्न बहुत होते हैं इसलिए पहले प्रार्थना करते हैं आचार्य शिष्य मिल करके सह नौ अवतु नौ हम दोनों को साथ साथ परमात्मा रक्षा करे और रक्षण पालयतु असहन भुनतु साथ ही दोनों को अभिपालन करे तो दोनों में भेद है सहन अवत में विद्या स्वरूप प्रकाशनेन विद्या स्वरूप प्रकाश करके दोनों की दोनों का पालन करे परमात्मा विद्या स्वरूप का प्रकाश हो विद्या स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो असहन गुणत्व में विद्या का फल प्रकाशन करके प्रकाशन करे तो स्वरूप प्रकाश विद्या स्वरूप प्रकाश के द्वारा पालन करे और विद्या स्वरूप का जो फल है फल प्रकाश से हमको पालन करे दोनों में इतने भेद है नहीं तो दोनों पुनरुक्ति हो जाएगी विद्या स्वरूप प्रकाशन न पाले हेतु और विद्या फल प्रकाशन न पाले हेतु दोनों हुआ सह वीर्यम करवावहे वीर्यम का तो सामर्थ्य यहाँ सामर्थ्य विद्याकृत सामर्थ्य विद्याकृत सामर्थ्य ब्रह्म विद्या होने से ये बल सामर्थ्य आता है अविद्या आविद्यक पदार्थ का तिरस्कार मिथ्या पदार्थ में आसक्ति सत्य तो बुद्धिपूर्वक होती है किंतु ब्रह्म विद्या होने से विद्याकृत सामर्थ्य होता है मिथ्या अनात्म वस्तु का तिरस्कार यही सामर्थ्य है यही बल है नायम आत्मा बल है नैन लभ्य ये बल है अनात्म वस्तु का तिरस्कार बार बार विचार करके अनात्म वस्तु का तिरस्कार है मिथ्या है नहीं चाहिए ऐसे करके बार बार अभ्यास करने से ही निष्ठा स्थिति होती स्वरूप में इसलिए यह सामर्थ्य दोनों साथ साथ प्राप्त करे तेजस्वी नौ अधितम वस्तु नौ का अर्थ अभाभ्याम हम दोनों से पढ़ा गया अध्ययन तेजस्वी हो तेजस्वी का अर्थ तो वीरवत हो सफल हो अध्ययन करते हैं विधि पूर्वक अध्ययन नहीं करते हैं तो फल नहीं प्राप्त होता है परमात्मा की प्रार्थना शांति पाठ नहीं करके भगवान की प्रार्थना नहीं करके जिस प्रकार जितने नम्रता त्याग पूर्वक वैराग्य पूर्वक करना चाहे नहीं कर पाते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता है तेजस्वी तेजस्वी प्रकाशमान वीर्यवत समर्थ हो अध्ययन क्या हुआ नहीं तो व्यर्थ हो जाता है मां विद्वेषावहे परस्पर विद्वेष नहीं करे आचार्य गुरु शिष्य में विद्वेष तो होना नहीं चाहिए किंतु प्रमादकृत शिष्य यदि प्रमाद से जिस प्रकार विधिवत का प्राप्त श्रवण करना चाहे नहीं करता है तो द्वेष की संभावना आचार्य भी अर्थ प्रतिपादन करने में प्रमाद से अर्थ प्रतिपादन नहीं हो पाए तो द्वेष होगा जब विधिवत अध्ययन नहीं करता है फल प्राप्त नहीं होता है तो फिर द्वेष होता है रुचि नहीं होती है फिर छोड़ देता है कुछ प्राप्त नहीं होता है इसलिए शास्त्र में जैसे कहा जाता है मुमुक्षु को इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए प्रयत्न करते समय लगने से अवश्य फल की प्राप्ति होगी किंतु जैसे कहा गया ऐसे ही करना पड़ता है उसमें सोचेंगे तुला क्या हो जाता है ऐसा नहीं करते क्या होगा ऐसे कौन से विफलता ही साफल्य नहीं होता है सफलता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है शांति पाठ उपनिषद श्रवण का अंग है ये नहीं कि शांति पाठ व्यर्थ है उसके बाद जाएंगे ऐसा नहीं कभी आते समय देर हो जाए कोई बात नहीं किंतु तो हिसाब करके आए शांति पाठ इतने से हो जाता है उसके बाद जाकर पहुंचेंगे ये नहीं है शांति पाठ उपनिषद श्रवण का अंग है साथ करना होता है इसलिए विद्वेष हो सकता है जब विधि पूर्वक नहीं करते हैं आज्ञा पालन एक आवश्यक है आचार्य की सेवा अन्य नहीं कर पाए तो आज्ञा पालन वो भी नहीं कर पाए तो लाभ नहीं होता है रंतकण शुद्धि वैराग्य चाहिए सरलता सत्यता सन्मार्ग में चलना चाहिए कपड़ा कपटाचरण नहीं चाहिए तो थोड़ा सरलता ये सब विभिन्न कारण है उसके अभाव से द्वेष होने की संभावना तो इसलिए प्रार्थना करते द्वेष नहीं हो यदि द्वेष परस्पर हो जाए तो व्यर्थ है कुछ नहीं होता है लाभ इसलिए हमेशा ही ऐसे अप्रमत्त होकर के हमेशा ही निरंतर इस प्रकार तत्पर होकर रहना पड़ता है सब कर्तव्य ठीक ठीक करें जिस प्रकार विद्वेष नहीं हो और श्रवण का फल प्राप्त हो सब करने के बाद भी यदि श्रवण का फल प्राप्त नहीं हो तो व्यर्थ हो जाता है इसलिए तत्पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय श्रद्धा अत्यधिक तत्परता चाहिए ऐसा होकर के करने से द्वेष नहीं होता है इसलिए द्वेष भी नहीं करे करके परमात्मा से प्रार्थना करते परमात्मा इसी की कृपा करे देवता लोग को आशीर्वाद दे ओम शांति शांति शांति का करे त्रिविध उपद्रव निवृत्ति के लिए शांति तीन बार आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक उपद्रव व्याध्यादि आध्यात्मिक है और आधिदैविक होता है वन्या वात्या भूकंप आदि और आधि भौतिक होता है भूत संबंधी चोर व्याघ्र अन्य व्यक्ति के से भी थे त्रिविध विघ्न की निवृत्ति के लिए तीन प्रकार शांति विघ्न सब स्वाभाविक है तो विघ्न निवृत्ति विघ्न तो प्रारब्ध में जितने आएंगे किंतु उसको सहन करके पार करना है निवृत्ति का यह अर्थ नहीं कि बिल्कुल विघ्न नहीं रोग नहीं होगा शांति पाठ करेंगे तो रोग होने पर भी रोग से श्रवण छूट नहीं रोग होता है भी तो भी श्रवण हो पाए सहन कर ले सहन करने की शक्ति हो और कार्य सफल के लिए वो सहायक हो देवता लोग को कृपा करे सहायक हो तो रोग हो विघ्न हो जैसे हो तो भी कार्य सफल हो कार्य का त्याग नहीं हो श्रवण करना चाहिए श्रवण का बीच में छोड़ना नहीं चाहिए और फल प्राप्त होने तक लगना चाहिए इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और अन्यत्र आता है शरीर आदि मेरा विचर्षण वाग इंद्रिय विचर्षण शुद्ध हो श्रवण करने की सामर्थ्य हो अंग पुष्ट हो इस प्रकार से वो शांति मत में आता है तो शरीर स्पष्ट पुष्ट हो तो श्रवण कर सके कर सके ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो तो नहीं होता है ये सब के लिए शांति का पाठ करते हैं और जब सामर्थ्य उस समय अवश्य श्रवण आदि करना चाहिए शरीर में सामर्थ्य है तो उस समय थोड़ा बैठने में भी सावधान होकर बैठना चाहिए जब सामर्थ्य यदि सीधा नहीं बैठ पाए और जब रोग हो बीमार हो तो सीधा कहाँ बैठेंगे ऐसे सामर्थ्य के समय भी यदि नीचे झुक कर बैठे जब असमर्थ हो जाए तो चलना बैठना उठना खड़ा तो उस समय क्या करना सामर्थ्य के समय में साधन भोजन नहीं कर पाए आगे असमर्थ होने पर क्या साधन होगा और सामर्थ्य है अभी समय पर उपस्थित हो सके वो भी नहीं हो चलने के लिए कष्ट होता है तो उस समय फिर कहाँ समय पर उपस्थित हो हमेशा ही प्रमाद रहित होकर करना चाहिए प्रार्थना करे और प्रयास करे शांति पाठ प्रारंभ से आचार्य आने के पहले शिष्य को आना आवश्यक है ये नियम है पहले उपस्थित होना चाहिए कभी आप दूर से कोई आते देर हो गया कि यहाँ अगर कोई बाद में आए अर्थात दूर से हिसाब करके आए इतने बजे पहुँचेंगे इतने बजे निकलेंगे ये उचित नहीं अपनी हानि होती है दूसरे का नहीं है इसलिए इसमें हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए परमात्मा की प्रार्थना करके प्रारंभ करें तो सफलता मिलती है शांति पाठ होने के पश्चात अभी प्रारंभ में टीकाकार आनंद के स्वामी भाष्य की व्याख्या करने के लिए मंगलाचरण करते हैं धर्माधर्मादि संसृष्टम कार्य कारण वर्जितम कालादिभिरवच्छिन्नम ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम ब्रह्म का विशेषण धर्मा अधर्माद्य संसृष्टम कार्य कारण वर्जितम कालादिभिर अविच्छिन्नम यद ब्रह्म तन् अहम नमामि अहम नमामि तद् ब्रह्म उसी ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार मैं करता हूँ जो परमात्मा धर्मा धर्मादि संसृष्टम धर्म अधर्म आदि से धर्म अधर्म का कार्य उसे असंबद्ध है आगे इसमें अंतर आएगा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अन्यत्र अधर्मात् धर्म अधर्म से भिन्न काल आदि से धर्म अधर्म से असंसृष्टम पुण्य पाप का कार्य धर्म अधर्म का कार्य धर्म का कार्य सुख अधर्म का कार्य दुख और साधन क्योंकि सुख दुख प्राप्त होगा धर्म से सुख प्राप्त होगा साधन से अधर्म से दुख होगा साधन निमित्त बन जाएगा इसलिए धर्म अधर्म का जो कार्य है सुख दुख सुख दुख का साधन सबसे असंबद्ध है आत्मा आत्मा में धर्म अधर्म नहीं धर्म अधर्म का कार्य कैसे होगा आत्मा असंग है असंबद्ध है और कार्य का अनवर्जितम कारण वर्जितम उसका कोई कार्य नहीं उसका कोई कारण नहीं वर्जितम अर्थात स्वयं किसी का कारण नहीं होता है कारण वर्जित है तो उसका कोई कारण नहीं स्वयं कार्य नहीं है ब्रह्म ना तो कार्य है ना तो कारण है जगत कारण ब्रह्म जो कहा जाता है वो सोपाधिक ब्रह्म ईश्वर माया विशिष्ट चेतन शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म कार्य नहीं कारण भी नहीं शुद्ध ब्रह्म कालाधि भी अविच्छिन्नम काल देश वस्तु परिचिन्न नहीं अविच्छिन्न विच्छिन्न नहीं विच्छिन्न होता तो विच्छेद होता परिचिन्न हो जाता है ये कार देश वस्तु से विच्छिन्न नहीं अपरिचिन्न है ब्रह्म अनंत ब्रह्म यद ब्रह्म तत् नमामि शुद्ध ब्रह्म का नमस्कार शुद्ध ब्रह्म तो अपना स्वरूप है अपना स्वरूप से अभेद में नमस्कार नहीं होगा तो भी औपाधिक भेद क्यों जब ज्ञान नहीं हुआ तो औपाधिक भेद को आश्रय करके सब व्यवहार किया जाता है शुद्ध ब्रह्म में तो कुछ व्यवहार नहीं होगा शुद्ध ब्रह्म अद्वितीय है कुछ नहीं किंतु व्यवहार जब तो होता है चलना फिरना खाना पीना बोलना होता है तो औपाधिक भेद है उसको ले करके नमस्कार्य ईश्वर और नमस्कारता है जीव उपास्य ईश्वर उपासक जीव ऐसा भेद व्यावहारिक भेद है उसके कारण नमस्कार करते हैं पहले प्रारंभ में यह साक्षात्कृत परमानंदो यावद अधिकारम याम्ये पदे वर्तमान अकर्ते ब्रह्मात्मता अनुभव बल तो भूत यातना निमित्त दोषेर अलिप्त स्वभाव आचार्यो वर प्रदानेन परब्रह्मात्मिक विद्याम उपदिदेश यस्मै उपदिदेश ताभ्याम नमस्कुर्वन् आचार्य भक्तेर विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग विद्या प्राप्ति का साधन अंग है अंग के बिना अंग नहीं होता है विद्या प्राप्ति का अंग आचार्य भक्ति ये दिखाते भगवान भाष्यकार पहले विद्या प्राप्ति अंग तुम दर्शयति दर्शयति का कर्ता कौन है भाष्यकार भगवान कैसे दिखाते हैं यह साक्षात्कृत परमानंद साक्षात्कृत परमानंदो येन स साक्षात्कृत परमानंद परमस्य सानंदस्य इति परमानंद परम है निरति से निरति से आनंद होता है ब्रह्मानंद जितने विषयजन्य आनंद है उस सातिशय है वैषयिक आनंद सुख सातिशय उसे बढ़ करके उसके बढ़ कर उससे बढ़ करके किंतु से आनंद परम आनंद है ब्रह्मानंद विज्ञानम आनंद ब्रह्म ब्रह्म आनंद रूप है तो परम है से उसे बढ़ करके कोई नहीं है ऐसे जो परम परमानंद स्वयं ब्रह्म है जिस उसका साक्षात्कार जिसने किया स साक्षात्कृत परमानंद अतः ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो परमानंद ब्रह्म एक ही है साक्षात्कार कर लेने के बाद यावद अधिकारम याम्य पदे वर्तमान साक्षात्कार होने के बाद भी कुछ पहले का प्रारब्ध है उपासना के कारण परमात्मा उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनको अधिकार बन दिया अधिकारी पुरुष कुछ होते हैं अधिकारी यम पद में जो रहते हैं एक अधिकार है भार देते ईश्वर ये हे माया से जगत है माया से जो जगत है सब माया के प्रपंच में विभिन्न कार्य संभालने के लिए दायित्व देते हैं नाटक करते हैं नाटक करने में कोई राजा बनता है कोई मंत्री बनता है कोई सैन्य बनता है कोई चोर बनता है डाकू बनता है वो अलग-अलग बनते हैं तो भी वो नाटक जो करते हैं कराते हैं तो देते दायित्व तो तुमको राजा बनना है आज राजा बनेगा दूसरे दिन नाटक होगा तो भीकमगा ही बन जाएगा जैसे नाटक में निर्देश करने वाले जब जैसे कहेंगे पहले उनको सिखाते आज तुमको भीकमगा बनना है जो भीख मांगता आज काल के नाटक में राजा बन जाएगा तो इसी प्रकार ये माया से नाटक परमात्मा तो किसी को कुछ बनाते हैं यम पद में कोई रहेगा जो रहेगा उसका कार्य करेगा इसी प्रकार से पद इंद्र पद में कोई रहता है व्यास भी बनते इस प्रति युग में इस प्रकार ये अधिकारी पुरुष है यावत अधिकारम उनकी अवस्थिति होती है जब तक अधिकार है तब तक रहे ज्ञान न होने के बाद भी उसी कर्म करेंगे तो याम याम्य पदे वर्तमान यावत अधिकारम जब तक उनका प्रारब्ध अधिकार है तब तक यमस्य इदम इति याम्यम याम्य यम पद में वर्तमान ज्ञानी है अकर्त ब्रह्मात्मता अनुभव वर्तो साक्षात्कार अनुभव हो गया अकर्त्री जो ब्रह्म है वही आत्मा है अकर्तृ ब्रह्मण आत्मत्वम अकर्ता मैं हूँ ब्रह्म हूँ जीव ब्रह्म के कथा ब्रह्म आत्मता ब्रह्म स्वरूप अहम मैं अकर्ता ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव साक्षात्कार उसके सामर्थ्य से बलत अनुभव के सामर्थ्य से ऐसे ज्ञान होने के कारण जो शरीर के द्वारा कुछ कर्म मन से इंद्र से कर्म होता है यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा सैमान लोका नहंति न न निबध्यते जितने कर्म करने पर भी कर्म का संबंध ज्ञान में नहीं होता है यमराज क्या करते भूतों को यातना देते हैं यातना तो अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार भी यातना देते हैं तो यातना निमित्त दोषेर अलिप्त स्वभाव यातना देते उसके निमित्त दोष दोष से उनका स्वभाव लिप्त नहीं होता है ज्ञान के कारण तो अनुभव बलत ब्रह्मात्म तो अनुभव के कारण भूतों को प्राणी को जो कष्ट देते इसे कष्ट देते हैं यम यमलोक में यहाँ इसे कष्ट भोग नहीं कर सकते हैं जितने पाप कर्म उस पाप कर्म फल भोगने के लिए कोई कोई कहते इतने पाप करता है अभी क्यों उसको दुख नहीं मिलता है जो पाप इतने करता है उसे पाप का इतने दुख है ये शरीर में वो दुख भोग नहीं सकता है उसको भोगने के लिए इसे मजबूत शरीर प्राप्त होता है नरक में ये शरीर से क्या उसको लेकर पत्थर में पिटेंगे तो मर गया मर जाएगा तो कष्ट कैसे भोग करेगा मरेगा नहीं तो कष्ट भोग करेगा तभी तो यातना अब एक प्रहार पिटा वो मर गया तो गया और कष्ट क्या हो गया यम भवन जाएंगे इसे शरीर प्राप्त होगा धोबी जैसे कपड़ा को पीटता है साफ करने के लिए इसे पैर को लेकर पीटेंगे पिटेंगे तो सिर चुर चूर हो जाएगा हाँ हाँ मुझसे मुझे बाद में बोलना बंद हो जाए तो टूट किंतु मरेगा नहीं मरेगा नहीं तो कष्ट होगा मर जाएगा तो एक एक क्षण चला गया नहीं मर कर रहेगा तो फिर बाद में जो उसको लेकर के बड़े-बड़े कढ़ाई में तेल जैसे पूरी छानते हैं उसको लेकर उसमें डाल देंगे चड़बड़ बढ चढ होता रहेगा ऐसे फिर लेकर जितने प्रकार कष्ट पत्थर के ऊपर लेकर ऊपर से पहाड़ से फेंक देंगे बहुत प्रकार कुठार से छेदन करेंगे पीठ में पैर में छेदन करेंगे बहुत प्रकार कष्ट है यामिया इतने कष्ट देने पर भी उसी दोष से लिप्त नहीं होते ज्ञान के कारण यमराज भूत यातना निमित्त दोषीर अलिप्त स्वभाव अलिप्त स्वभाव से ऐसे आचार्य यहाँ यमराज स्वयं आचार्य है गुरु है ये नचिकेता को उपदेश करते ब्रह्म विद्या को उपदेश करते हैं और यहाँ जो उपदेश किया किस प्रकार वर प्रदान है ना वर प्रदान करके प्रसन्न होकर के उपदेश करते हैं जबरदस्ती नहीं वर प्रदान प्रसन्न आचार्य प्रसन्न होकर के विद्या प्रदान करते हैं प्रसन्नता से ही उपदेश करने से शिष्य को प्राप्ति विद्या की प्राप्ति होती है जब इसलिए आचार्य को प्रसन्न करना शिष्य का कर्तव्य है जो जिस प्रकार कहते हैं वो करके प्राप्त प्रसन्न करना चाहिए तब प्राप्त उपदेश सफल होता है यहाँ स्वयं आचार्य वर प्रदान के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं कठोपनिषद में तो वर प्रदान न परब्रह्मात्मिक विद्याम उपदिदेश परब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य ब्रह्म यहाँ कार्य ब्रह्म सोपाधि का नहीं शुद्ध ब्रह्म के साथ आत्मन ऐक्यम परब्रह्मात्मन और ऐक्यम एक ही तत्व है चिन्मात्र सर्वव्यापक है उसकी विद्या है ब्रह्म विद्या हुई है ब्रह्म का तो मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म उसकी विद्या नहीं अहम अस्मि ब्रह्म परब्रह्म आत्मा के एक विद्या ब्रह्म ज्ञान का उपदिदेश उपदेश यमराज ने उपदेश किया लिटिल कार में उपदेश करने वाले यमराज यस्मै च उपदिदेश और जिसको उपदेश किया शिष्य नचिकेता को तो शिष्य जो को उपदेश किया उसको भी नमस्कार करते हैं टीकाकार गुरु को तो उपदेश करते हैं और शिष्य को उपदेश करते हैं शिष्य किसका है भाष्यकार का नहीं यमराज का शिष्य है यमराज का शिष्य है यमराज का शिष्य होने पर हमारे आचार्य के आचार्य के आचार्य के आचार्य कितने वो भी आचार्य जो आपके आचार्य है जैसे किसी व्यक्ति का पिता उसके पिता वो किसका पुत्र है या नहीं हाँ पिता के पिता के पिता के पिता जितने हो वो भी किसका पुत्र है इसी प्रकार शिष्यत है यमराज के शिष्य है नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय में पहले आचार्य उनके पास शिष्य फिर उनके शिष्य फिर उनके शिष्य ऐसे क्रम से उनका नाम लेते हैं तो हमारे लिए वो सब क्या है हमारे लिए गुरु आचार्य है कोई पिता पितामह प्रपितामह करके इसी प्रकार जैसे गुरु परम गुरु उनके गुरु उनके गुरु ऐसे करते करते सब आचार्य है जो मुख्य ब्रह्म विद्या का श्रोता नचिकेता वो हमारे लिए आचार्य है इसलिए उनको भी नमस्कार ताभ्याम नमस्कुर्वन दोनों को नमस्कार करते हुए आचार्य भक्तिर विद्या प्राप्ति तुम दर्शयति आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग इसको भगवान भाष्यकार दिखाते हैं भाष्यकार स्वामी यहाँ नमस्कार करेंगे भाष्यकार नमस्कार करते हैं आचार्य और यमराज को उनके शिष्य नचिकेता को आज जगतगुरु शंकराचार्य तो जगतगुरु किंतु उनके गुरु गोविंद पादाचार्य उनके गुरु है कौन है गौड़पादा ये जो परंपरा है व्यास सुकम गौड़पादा इसी परंपरा में और पहले यमराज के शिष्य नचिकेता भी गुरु परंपरा में अपने बहुत ऊपर ये गुरु पुण्य में व्यास पूजा में बहुत गुरु परंपरा में बहुत की पूजा होती है केवल साक्षात गुरु नहीं गुरु के गुरु सब अलग-अलग मत प्रतिपादन करने वाले बहुत गुरु परंपरा में सब गुरु कितने आचार्य का नाम लेकर पूजा होती है उस समय गुरु पुण्य में सब आचार्य का नाम लेते हैं उनके ध्यान करना पूजा करना आवश्यक है ये आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग साक्षात आचार्य हो ने परंपरा में वंशर्षि वंश जैसे एक एक ग्रंथि से भिन्न-भिन्न इसी प्रकार ग्रंथि गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु परंपरा सबको नमस्कार करते हैं और सबका गुरु शिष्य पूरा इसी ग्रंथ में आचार्य यमराज शिष्य नचिकेता दोनों को नमस्कार करते हैं नमस्कार करते हुए क्या दिखाते भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार दिखाते हैं आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है ओ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नम नचिकेतसे च ये भगवान भाष्य का नमस्कार करते हैं भगवते वैवस्वताय नमः भगवान वैवस्वत विवस्वन सतो अपत्यम यमराज मृत्यवे मृत्यु का चतुर्थ मृत्यु है यमराज भगवान सूर्य का पुत्र है उनको नमस्कार जो कि ब्रह्म विद्या आचार्य है ब्रह्म विद्या का आचार्य यमराज यहां और नचिकेत से नचिकेतस नचिकेता बनता प्रथम नचिकेत से ये शिष्य है आचार्य है नमराज शिष्य है नचिकेता दोनों को नमस्कार जो शिष्य है वो हमारे लिए दृष्टि से वो आचार्य है आचार्य के आचार्य उनके पर आचार्य दोनों को नमस्कार है अथ काठक उपनिषद वल्ले नाम सुखा सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्पग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते भगवान भाष्यकार कहते हैं इसमें अर्थ शब्द दिया मंगला पहले भाष्य में अथ का तो अनंतर यहाँ अनंतर नहीं है प्रारंभ में अथ कहते हैं इसलिए अथ शब्द मंगलार्थ मंगल के लिए मंगल के लिए अथ शब्द उच्चारण करते अन्य अर्थ होता है यहाँ मंगल के लिए अथ शब्द श्लोक क्या है ओंकारश्च अथ शब्दश्च तस्मान मांगलिका भौ ओंकार और अथ शब्द ओंकार चात्र शब्द से द्वाइम द्वावेत एतो द्वावेतो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से कंठ भित्वा विनिर्गत कंठों को भेदन कर निकल गया ब्रह्मा जी के मुख से ओम अथ इसलिए तस्मान मांगलिको स्मृतो इसके श्रवण मात्र से मंगल होता है उसका प्रयोजन कुछ अलग हो कभी-कभी प्रयोजन अलग ब्रह्मसूत्र में अत्र सद अनंतर है साधन चतुष्टानंतरम अन्य प्रयोजन में कोई पानी लेकर जा रहा है पानी पीने के लिए कुंभ में उसको कोई देखा देखने वाले को मंगल होता है वो तो पानी लेना अन्य प्रयोजन के लिए किंतु आपको देखने पर मंगल होता है अथ शब्द उच्चारण किया गया अनंतर के लिए ब्रह्मसूत्र में किंतु शब्द उच्चारण श्रवण मात्र से मंगल होता है यहाँ तक मंगल के लिए ही उच्चारण किया गया अथ अथ शब्द मंगलार्थ अभी क्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकर पहले चिकित्सितम प्रति जानीते कर्तुम इष्टम चिकित्सम जो करना चाहते हैं पहले प्रतिज्ञा करते कहते क्या करना चाहते हैं भगवान भाष्यकर पहले कहते काठक उपनिषद बल्ली नाम अल्प ग्रंथा वृत्ति आरभ्यते अल्प ग्रंथ यस्याम वृत्तौ सावृत्ति अल्प ग्रंथा ग्रंथ शब्द अल्प है अर्थ अल्प नहीं अर्थ तो महान है बहुत अर्थ है किंतु शब्द अल्प है अल्प ग्रंथ यस्याम वृत्तौ वृत्ति व्याख्यान आरंभ करते किसलिए सुखार्थ प्रबोधनार्थम सुखेन अर्थस्य प्रबोधनाय सुखेन अनायासेन बहुत प्रयत्न करना नहीं पड़े अर्थ उपनिषद के अर्थ का प्रबोधन ज्ञान के लिए से को ज्ञान हो जाए इसके लिए अल्प ग्रंथा वृत्ति आरंभ किया जाता है आरंभ की जाती है आरंभ करेंगे वर्तमान सामीप्यात वर्तमान बदवा अभी कर रहेंगे करेंगे ठीक है मैं ननु उपनिषद वृत्ति नारब्धव्या नाम काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परामुखत्वात् विशिष्ट से अधिकारिण दुर्निरूपत्वात् बंध से सत्य से कर्म भेव निवृत्ते उपनिषद जन्य विद्या निष्प्रयोजनत्वात् जीव से च संसारी ब्रह्मात्मताया प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वेन निर्विषयत्वाच्च इत आशंक्य यहाँ तक शंका है आगे समाधान शंका क्या करते ये उपनिषद वृत्ति न आरब्धव्या उपनिषद की व्याख्या आरंभ नहीं करनी चाहिए क्यों आरंभ करते हैं उपनिषद की वृत्ति व्याख्या आरंभ करते भगवान भाष्यकार कहते आरंभ नहीं करनी चाहिए व्यर्थ है न आरब्धव्या कोई आरंभ करे कार्य उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए व्यर्थ क्यों आरंभ करते हैं क्यों प्रयोजन है प्राणी श्रवण करेंगे तो ज्ञान होगा प्राणी नाम काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परामुखत्वात् वेदांत श्रवण से परांगमुख होते कौन काम कलुषित चेतसः कामेन कलुषितम कलुषितानि चेतांसि येषां कामेन कलुषितम चेतो येषां जिनका चित्त काम से कलुषित चित्त का कलमस होता है कलुष होता है अपवित्र होता है दूषित होता है कामना से जिसमें जितने इच्छा है इतने कलुषित है चित्त इसलिए अपने आप को देखें अंतकरण शुद्धि के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए बहुत बहुत इच्छा है तो अभी अंतकरण शुद्ध है विचार कर क्या-क्या इच्छा है एक एक इच्छा को सोचे विचार ये इच्छा जो कर रहा हूं ये प्राप्त हो जाए तो क्या मुख्य मुक्ति हो जाएगी यदि मुक्ति का साधन है क्यों इच्छा करना है छोड़ो जो मुक्ति का प्रतिबंधक उसको रखे तो मुक्ति कैसे मिलेगी इच्छा है प्रतिबंध का जितने जितने इच्छा अपने आप को पता चलेगा नहीं चलेगा क्या-क्या इच्छा करता है दूसरे को भले बत, नहीं बताए अपने आप को तो पता चलेगा जो जो इच्छा एक एक इच्छा सोचे क्या चाहता एक इच्छा को लेकर विचार करे पहले ये इच्छा मैं करता हूँ इच्छा से क्या लाभ होगा नहीं प्रारब्ध नहीं तो नहीं मिलेगा अब मिल जाएगा तभी क्या हो गया मुक्ति हो जाएगी ऐसे जितने संसार इच्छा तो प्रपंच विषय की इच्छा होगी जितने इच्छा का विषय सब मिथ्या प्रपंच है मिथ्या प्रपंच और इच्छा जो करेगा राष्ट्रपति बनने के लिए बन जाएगा प्रारब्ध नहीं तो सम्राट बन जाएगा नहीं बन सकता इच्छा करके अपने ये इच्छा प्रतिबंध का ज्ञान का यदि प्राप्त होना तो होगा नहीं तो नहीं अच्छा प्राप्त हो भी जाए कोई सम्राट बन भी जाए तो मुक्ति हो जाए क्या नहीं इसलिए इच्छा का त्याग करना पड़ेगा एक-एक विचार करके इच्छा है चित्त को कलुषित करने वाले इसलिए भगवान कहते काम कलुषित चेतसाम जिनका चित्त कलुषित है कामना से इच्छा से जिनकी वासना अधिक है वो श्रवण नहीं कर पाएंगे थोड़े श्रवण करने का छोड़ देते हैं अपने को बुद्धिमान समझते क्या ये श्रवण करके समझ लिया हमें ब्रह्म हो गया और क्या करना है वो नहीं समझ पाते कामना के कारण वासना के कारण सत्कर्म से बहिर्मुख होते हैं श्रवण यदि प्रारंभ होता है अनेक जन्म पुण्य का फल है परमात्मा की कृपा है यदि उसको छोड़ देते हैं तो पाप कर्म उदय होने पर उसको छोड़ देते हैं इसलिए हमेशा सावधान रहे मन में कभी आता है छोड़ देने के लिए ये समझे पाप कर्म उदय जब होता है ये भावना आती है जिसको श्रवण करने की इच्छा होती हो सत्कर्म करने की सन्मार्ग में चलने के लिए समझे पुण्य के फल है अनेक जन्म तपस्या का फल होने पर ही शास्त्रीय मार्ग पर चलने की इच्छा होती है जो चित्त में काम अधिक होते काम से कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परामुखत्वा अन्य कार्य करने के लिए बहुत इकट्ठे हो जाएंगे उपनिषद श्रवण के लिए कम है जितने महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं भंडारे में उपनिषद श्रवण इतने कहां उपटे होंगे और भागवत तो कथा करो नाच, नाचने लगो नाचे गिरे संगीत बोले नाचे सब करे कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे वेदांत श्रवण करने के लिए तो सोएंगे भागेंगे ये पहले दिन तो सोए दूसरे दिन आएंगे नहीं और उसमें यदि कुछ उपदेश करे तो तीसरे दिन भर के ये छोड़ो ये क्या कहते प्याज प्याज लहसुन छोड़ने के लिए कहते कुछ लोग कहे प्याज लहसुन नहीं खाना दूसरे दिन खाना कम कर दिए बोले क्या मिलेगा प्याज लहसुन छोड़ो ये कोई प्याज के बिना भोजन बनता है कुछ लोग कहते प्याज लहसुन के बिना भोजन कैसे बनेगा जैसे सब्जी पकेगी नहीं बिल्कुल बोले सब्जी बनेगी नहीं उसके बिना <laughs> तो ये सब और जब बहुत ऐसे पाप के कारण श्रवण से परांगमुख होते हैं अभी पूर्व पक्षी कहते काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परामखत्वार ये आचार्य है जो आनंद के स्वामी है ये भी हमारे लिए आचार्य है आचार्य के आचार्य गुरु के गुरु उसी के व्याख्या के अनुसार ही व्याख्यान करना पड़ता करते हैं इसलिए वो कहते स्वयं ये ध्यान रखना सबको श्रवण से परामुख कब होता है जब चित्त काम कलुषित हो जाए काम कलुषित विभिन्न विघ्न पाप उदय होने पर श्रवण से परामुख हो जाते हैं परामुख सन्मुख नहीं श्रवण से पराम पीछे करे भाग जाते हैं तो विशिष्ट से अधिकार दुर्निरूपत्वा तो जो विशिष्ट अधिकारी है साधन वेदांत श्रवण करने के लिए साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी है साधन चतुष्ट संपन्न जो विशिष्ट है साधन चतुष्ट विशिष्ट ऐसा अधिकारी निरूपण नहीं कर सकते कहाँ ऐसा अधिकारी ऐसे कौन हो गया श्रवण करने के लिए उसका निरूपण नहीं हो सकता जो वेदांत श्रवण करे प्राप्त भी नहीं होगा ऐसा अरे बंध के निवृत्ति के लिए वेदांत श्रवण करना बंध सुख दुख ये जन्म मरण आदि है तो वेदांत उपनिषद पढ़ने से कोई नष्ट हो जाएगा मोक्ष मिल जाएगा कुछ लोग कहते ये उपनिषद श्रवण करते रहो क्या हो जाएगा जन्म मरण कौन उपनिषद श्रवण करके अभी तक नहीं मर कर जिंदा है बताओ उपनिषद श्रवण करने से जन्म मरण छूट जाएगा मरण तो तो क्या होता जितने लोगों ने उपनिषद श्रवण किया तो कोई नहीं मरना चाहिए सो बैठना चाहिए बड़े-बड़े महापुरुष मर गए और अब क्या करना अब तुम उपनिषद श्रवण करो तो जन्म मरण कुछ नहीं होगा डांट कर बोलते हैं उपनिषद श्रवण करने क्या मरण नहीं होगा मरोगे नहीं तो मरना है तो फिर करते कि मरना है तो उपनिषद श्रवण करके क्या लाभ हुआ उसके अभी अब वो करो मरना है तो खा पी कर मरो ये उपनिषद श्रवण सुबह सो जाकर उपनिषद श्रवण करना क्या लाभ है अभी बताओ एक दृष्टांत बताओ कोई उपनिषद श्रवण करो अभी तो मरा नहीं बताओ गुरु परंपरा में दिखाई दे सो तो चलेगी तो यो कहते बंधन सत्य है भूख प्यास निवृत्ति अच्छा चलो मरा नहीं जिंदा कोई बात नहीं कोई बताओ उपनिषद श्रवण करने के बाद खाना पीना छोड़ दिया भोजन करना जरूरत नहीं पानी पीना जरूरत नहीं बताओ कोई है तो पानी भी नहीं पिया खाना भी नहीं किया उपनिषद श्रवण करके तो बंधन सत्य है उसकी निवृत्ति उपनिषद श्रवण से क्या होगा इसे कहते बंध सत्य बंध से सत्य से सत्य जिद बंधन हाथ पर बांध लिया कितने बार उपनिषद श्रवण कर से बंधन छूट जाए बताओ जो तो कोई उपनिषद श्रवण नहीं किया हाथ पर बंधा हुआ उसका बंधन चक्कू से कट सकता है कट सकता है उपनिषद श्रवण करने आवश्यकता है क्या बंधन को चाकू से काटने के लिए सत्य बंध की निवृत्ति कर्म से हो जाएगी वेदांत श्रवण करने से क्या हो जाएगा सत्यस्य बंधस्य कर्मभ्य एव निवृत्ते कर्म से ही निवृत्त हो जाए कर्मभ्य एव कर्म से ही हाँ पैर में कोई बांध लिया तो चाकू लेकर बंधन काटेंगे तो नष्ट होगा ना श्रवण करने से हो जाएगा वेदांत श्रवण करते रहो पारायण करते रहो रटते भी रहो पैर में बंधा हुआ उसको काटना ही पड़ेगा हाथ में कुछ बांध देते हैं तो उसको निकालने के लिए मुश्किल होता है हाथ में कुछ बांध देते पंडित लोग उसको निकालने के मुश्किल होता है कि हाथ में खोलने के लिए हो तो चाकू से काटो और उपनिषद श्रवण करने से खुल जाएगा तो ये इतने नहीं हो पाता ये बंधन कहाँ निवृत्त होगा हाँ कर्म से हो सकता है कर्म भी है निवृत्ति उपनिषद जन्य विद्या है उपनिषद जन्य विद्या का फिर क्या प्रयोजन हुआ उपनिषद श्रवण करो विद्या हो जाए तो लाभ क्या होगा बंध की तो निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि बंध सत्य है सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी निष्प्रयोजनत्वात् और आप कह तो ज्ञान क्या है जीव ब्रह्म की कथा जीव है संसारी ब्रह्म है असंसारी संसारी असंसारी दोनों एक एक कैसे हो सकते जीवस्य च असंसारी ब्रह्मात्मताया प्रतिपादितम अशक्यत्वेन जीव सुख दुख भोगने वाला कितने भोग प्यास वाला संसारी है अब ब्रह्म के साथ एक होगा असंसारी ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत बनाने वाले ब्रह्म के साथ ये अल्पज्ञ मानने वाला खाने पीने के भूख प्यास खाने के बिना नहीं चलता है एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो चलने फिरे मुश्किल दूसरे दिन को और तीन दिन भोजन नहीं मिले तो एक देखो सात दिन भोजन छोड़कर कैसे उड़ता है अरे भोजन करने वाले भी बीमार हो जाता है एक दिन में क्या हो जाता है अत्यंत स्वस्थ भी कुछ हो गया तो एक दिन में गिर जाता है उठ नहीं पाता है बुखार जोर हो गया पेट खराब हो गया एक दिन में बीस बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन तो भूत जैसे दिखेगा जितने स्वस्थ व्यक्ति हो बीमार हो गया तो दो तीन दिन में भूत प्रेत जैसे लगेगा उठना मुश्किल है चलना मुश्किल है ये जीव फिर ब्रह्म के साथ एक है ये इसका प्रतिपादन नहीं कर सकते असंसारी ब्रह्मात्मता प्रतिपादित म है न तो फिर उपनिषद का क्या विषय रहा जीव ब्रह्म की एकता वो तो संभव नहीं और कोई विषय रहा उपनिषद का विषय जीव ब्रह्म की एकता जो कि संभव ही नहीं जितने ही उपनिषद कर बनाओ असंसारी ब्रह्म के साथ ये संसारी जीव की एकता परिच्छिन्न जीव की एकता कभी नहीं हो सकती और कुछ विषय ही नहीं निर्विषय हो गया जिसका कोई विषय नहीं है निर्विषय है ऐसे वाक्य की व्याख्या करना क्या जरूरत है कोई उसका विषय हो और प्रयोजन हो तो व्याख्या करना जिसकी कोई कोई विषय नहीं कोई प्रयोजन नहीं उसकी व्याख्या करना क्या जरूरत है उसमें प्रवृत्ति किसकी नहीं हुई सुनने के लिए अब व्याख्या करो कोई सुनेगा इसको हम पढ़ने से क्या लाभ होगा कुछ करने पर लाभ नहीं होगा कौन प्रवृत्त होगा आप व्याख्या करो कौन देखेगा अच्छा इसलिए वृत्ति न आरब्धव्य यह पूर्व पक्षी कहता है उसका हेतु दिया व्याख्या आरंभ नहीं करनी चाहिए एक हो गया श्रवण से परामुख होंगे काम कलुषित है ऐसा अधिकारी को नहीं मिलेगा आप जो कहते साधारण चतुर्थ संपन्न और बंध कर्म से निवृत्त होगा उपनिषद से कुछ नहीं होगा उपनिषद जन विद्या का प्रयोजन कुछ नहीं है निष्प्रयोजन क्यों श्रवण करेंगे श्रवण करें ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान होने पर कोई प्रयोजन नहीं है जीव संसार असंसार ब्रह्म सार एक नहीं हो सकता है कोई विषय ही नहीं रहा यहाँ तक शंका आने पर सिद्धांत कहते उपनिषद शब्द निर्वचन यह तो उपनिषद शब्द का अर्थ तो पहले समझो उपनिषद शब्द निर्वचन के द्वारा शब्द का निर्वचन व्याख्यान कथन उपनिषद कैसे बनेगा उपनि दो उपसर्ग सदली धातु ये कोई प्रत्यांत है आगे ये बताएं विद्याया विशिष्ट अधिकार आदि मत्व प्रदर्शन विद्या का विशिष्ट अधिकारी आदि अधिकारी संबंध प्रयोजन विशेष हुए ये विद्या के लिए अधिकारी भी है और उपनिषद का विषय है प्रयोजन भी व्यर्थ नहीं है अधिकार आदि पत्त प्रतिभा अधिकार आदि मत्वम अधिकार आदि है इसको दिखाते हैं किसका दिखाएंगे उपनिषद शब्द का निर्वचन करते उपनिषद शब्द का अर्थ करते करते बताते भगवान भाष्यकार ऐसे अधिकारी सब विषय प्रयोजन सब है अतजनक से ग्रंथ से अभी उपनिषद शब्द का अर्थ करके ब्रह्म विद्या अभी करेंगे उपनिषद शब्द का तो ब्रह्म विद्या ग्रंथ नहीं है तो उपनिषद ब्रह्म विद्या है तो ग्रंथों को कहते हम उपनिषद पढ़ रहे हैं उपनिषद अभी क्या पढ़ रहे हैं हाँ, उपनिषद पढ़ रहे हैं पुस्तक लेकर जाते हैं तो ग्रंथों के उपनिषद ये क्या है उपनिषद कठोर उपनिषद ब्रह्म विद्या उपनिषद होने पर भी ग्रंथों को क्यों कहते हैं तजनक से ग्रंथ से अभी ग्रंथों का भी विद्या का प्रतिपादक कौन से उपनिषद कह देते हैं और विद्या का अधिकारी आदि है तो उसका जनक ग्रंथ में भी अधिकारी आदि ग्रंथ श्रवण करने के लिए जो विद्या है उसका प्रयोजन है विषय है जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी संबंध प्रयोजन आदि है विषय है उसका प्रतिपादक ग्रंथ का भी अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन है ग्रंथ से अभी विशिष्ट अधिकार आदि इसलिए अधिकार आदि है ग्रंथ का अधिकार नहीं बात नहीं अधिकारी आदि है विषय है संबंध है प्रयोजन है तब उसकी व्याख्या करनी चाहिए व्याख्येत्वम ग्रंथ उपनिषद व्याख्येत्वम उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए इसको दिखाने के लिए दर्शयितुम इसको दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार प्रथमम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धि तावदाह पहले उपनिषद शब्द उपनिषद एक शब्द है शब्द स्वरूप की सिद्धि कैसे होती पहले कहते भगवान भाष्यकार इस उपनिषद शब्द का अर्थ कर देने से स्पष्ट हो जाएगा इसी ग्रंथ का विषय क्या है प्रयोजन क्या है अधिकारी कौन है सब दिखा देंगे तो विद्या का भी विषय अधिकारी संबंध ज्ञान हो जाएगा और विद्या प्रतिपादक ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ होने से ग्रंथ के उपनिषद शब्द से कह देते हैं उसका भी विषय संबंध प्रयोजन आदि है ये स्पष्ट हो जाएगा जिसका विषय संबंध प्रयोजन आदि है वो ग्रंथ व्याख्यान करनी चाहिए अधिकारी नहीं हो विषय नहीं है प्रयोजन है तो ग्रंथ व्याख्यान करना व्यर्थ है यदि अधिकारी है विषय है प्रयोजन है तो व्याख्या करनी चाहिए इसको दिखाने के लिए पहले उपनिषद शब्द अर्थ पहले बताते हैं प्रथम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धि तावदाह उपनि पूर्व से ही भाष्य में सदेर धातुर विस्तरण गत्य अवसानार्थस्य उपनि पूर्वस्य कुई प्रत्यांतस्य रूपम उपनिषद इति उपनिषद रूपे सदलि धातु से कुइप प्रत्यय हुआ सदेर धातु सदलि विस्तरण गति अवसाधनेषु तीन अर्थ है सदलि लिकार की संज्ञा है एक निर्देश कर सदे कर दिया सदी सद धातु है सदैर धातु सद धातु से धातु क्या अर्थ के विसरण गति अवसादान अर्थस्य सदे धातु हो षष्ट्यंत सदृ धातु का विसरण गति अवसादन विसरण शिथिलीकरण गति गमन अवसादनाश ये अर्थस्य विसरण गति अवसादनानि अर्थ यस्य धातु सधातु विसरण गति अवसादनार्थ अवसादनार्थ से सदर धातु जिस धातु का अर्थ विचरण गति और अवसादने इस अर्थ वाले धातु का उपनिपूर्व से उप और नि दो है उपसर्ग है तत्पूर्वक और कोई प्रत्यांत से कोई भी प्रत्यय होगा कुई प्रत्यय अंतय से कुई प्रत्यांत से रूपम उपनिषद इति उपनिषदे रूपे कोई प्रत्यय करने के लिए सत्सु किसके आदे और किसके आवे आप पहले बोलो जोर से और किसके याद है क्या कोई किसके याद है तो बोल लेने के लिए बोलो हम बोलो रुको रुक जोर से जोर से बोलो सर से बोलो जोर से हाँ, ये हो गया भावांत हो जाता है दिस युज विद चिद हाँ बोलो और कोई है बोलो हाँ इसको याद कर लेना तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में इकसठिया सूत्र है याद कर लेना उपनिषद जब पढ़ते हैं एक सूत्र याद कर लें कल अष्टमी में परसों को पूछेंगे ये कोई प्रत्यय करता सद धातु से कोई प्रत्यय होता है रूपम उपनिषद ठीक है मैं ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य उपनिषदम भो ब्रूहि इत्यादि प्रयोग दर्शनात् उपनिषदम भो ब्रूहि ये कहाँ आया है केन उपनिषद अभी आया शिष्य बहुत श्रवण करने के बाद कहा आचार्य के उपनिषदों बोपड़ी तो आचार्य का उक्ताते उपनिषद उपनिषद कहिए उपनिषद शब्द में ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्द प्रसिद्ध है उपनिषद शब्द से दर्शनाथ उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या में दिखता है केन उपनिषद आ गया कहा गया उपनिषदम भो ब्रूहि भो हे भगव हे गुरु आचार्य उपनिषद कहिए इत्यादि प्रयोग दर्शनार्थ प्रयोग दर्शन किया गया उपनिषद शब्द का प्रयोग किस में ब्रह्म विद्या में ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य प्रयोग दर्शनार्थ उपनिषद भोब्री इत्यादि प्रयोग प्रयोग कहाँ ब्रह्म विद्या में कस्य प्रयोग उपनिषद शब्द का प्रयोग किस में कुत्र दर्शनार्थ केन उपनिषद केन वाक्यन उपनिषदम भो ब्रीहि इत्यादि वाक्य के द्वारा केन उपनिषद प्रयोग दिखता है अर्थ माह सदृ धातु का अर्थ कहते सदृ धातु उपनिषद शब्द में उपनिप्रक सदृ धातु आगे कोई प्रत्यय तो उसका अर्थ कहते उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासितव्य व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्योचते उपनिषद शब्द न विद्या उच्यते उपनिषद शब्द से शब्द से क्या कही जाती विद्या विद्या ज्ञान है कैसे ज्ञान है वेद्य वस्तु विषय वेद्य वस्तु को विषय करने वाली विद्या ज्ञान वेद्य है ब्रह्म ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि वेद्य वस्तु को विषय करने वाले ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द से कही जाती है वो ब्रह्म विद्या ब्रह्म कहाँ से आया व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य व्याख्या तो मिष्ट व्यासिख्यासित जो ग्रंथ है ये उपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ है ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं व्याख्या तो मिष्ट वो ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य है ब्रह्म वही वेद्य है ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्य है मुमुक्षु का वेद्य ज्ञेय ज्ञातुम योग्य ज्ञातो अर जानने योग्य है वेद्य है ब्रह्म जीव ब्रह्म की कथा उसी वस्तु को विषय करने वाली विद्या ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या है मैं क्लिप्त अवयव शक्तिव प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द से न कल्प उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या यदि अर्थ कोई शब्द का अर्थ प्रकृति प्रत्यय विभाग को लेकर के प्रयोग हो सकता है रूढ़ी अर्थ नहीं मानना जाता है जहाँ कोई अवय विवाह करके प्रकृति प्रति विवाह करके अर्थ सम्यक नहीं होता है रूढ़ी अर्थ मानते हैं गो शब्द में था गमेर डौस उनादि सूत्र है गम धातु से डौस प्रत्यय हो जाएगा गौ बन जाएगा गौ बनेगा तो गच्छति इति गौ गच्छति इति गौ तो चलने वाला गौ सो जाएगा तो बैठ गए तो गौ नहीं खड़े हुए तो नहीं कुत्ता भी तो चलता है गधा भी तो चलता है तो अवयव से करें जो चलेगा वो गौ हो जाएगा और चलते समय गो बैठ गया लेट गया तो गो नहीं होगा इसलिए वहां गो शब्द का रूढ़ी अर्थ लेते हैं योगा रूढ़ेर सी योग के अपचार रूढ़ बलवती तो अर्थ लेते हैं पंकज सद पंकज से पंका जातम पंकजम पंकज कमल है कमल पंक से हुआ और कुमुदव्य के वो भी पंक से निकलता है और पंक से होने वाले कितने हो जाएंगे किंतु कमल शब्द में रूढ़ा अर्थ है इसलिए शब्द का अर्थ यदि योगिक का अर्थ हो सकता है रूढ़ी अर्थ लेना जरूरत नहीं पाचक पाककर्ता को पाचक कहते हैं जो भोजन पकाएगा उसको पाचक कहते हैं तो योगार्थ यदि हो सकता है रूढ़ी अर्थ नहीं मानते हैं क्लिप्त अवयव शक्त्याव क्लिप्त सिद्ध अवयव का कोई अर्थ है अवयव की शक्ति से ही शब्द प्रयोग हो सकता है इसे पाचक शब्द प्रयोग करते लाभक पाठक ये सब अवयव शक्ति से प्रयोग होता है समुदाय शक्ति नहीं मान कल्पना करने जरूरत नहीं समुदाय की शक्ति अलग मानते नहीं इसलिए वाक्य की शक्ति नहीं मानते एक एक पद की शक्ति पद की शक्ति होने से पत्ते के पद से पदार्थ का ज्ञान होगा और सब पदार्थ मिल करके जो ज्ञान होता है पदार्थों का समुदाय ज्ञान वो वाक्यार्थ ज्ञान होता है पदार्थों का परस्पर संबंध होकर के जो ज्ञान उसको कहते वाक्यार्थ ज्ञान नद्यास्तिरे पंचफलानि सन्ति ये पूरा वाक्य की शक्ति है या नहीं वाक्य की शक्ति नहीं है एक-एक पद की शक्ति है पद से पदार्थ की उपस्थिति होती है पदार्थों का परस्पर अन्य संबंध होकर के जो बोध ज्ञान होता है इसको कहते वाक्यार्थ बोध पदों की शक्ति से ही वाक्यार्थ बोध हो सकता है वाक्य की शक्ति नहीं मानते हैं वाक्य का अर्थ तो व्याकरण के अनुसार एक तिंग वाक्य न्यायिक लोग कहते पद समूह वाक्यम पद समूह घटम न्याय मत के अनुसार एक वाक्य है व्याकरण में जो एक तिंग वाक्य है वो अलग है वो प्रयोग होता है जिसमें एक क्रियापद एक वाक्य नद्या स्थिरे पंचफलानि संति एक क्रियापद एक वाक्य है किंतु न्यायिक लोग कहेंगे केवल घटम भी एक वाक्य है नद्या तीरे तीरे भी एक वाक्य है वाक्यम पद समूहम पद का अर्थ नहीं सप्तिंगतम पदम ये तो व्याकरण में सुगंत तिंगत पद है न्यायमतिक के अनुसार पद क्या है शक्तम पदम जिसकी शक्ति है वो शक्त होता है शक्ति है अर्थ बोधन सामर्थ्य पद पदार्थ का संबंध को शक्ति कहते पदार्थ के साथ पद का संबंध है एक पद शब्द सुनेंगे अर्थ का स्मरण होता है यदि आपको शक्ति ज्ञान है जिसमें शक्ति उसको कहते शक्तम पदय ये पद से घट एक पद है वो शक्तम अम एक पद है अम का भी अर्थ है कर्मत्व घट पद का अर्थ है दोनों मिल गए दो पद हो गए पद समूह हो गया ये वाक्य हो गया घटम न्याय मत के अनुसार तो घटम इस पद की ये जो वाक्य बन गया दो मिल करेगी उसकी शक्ति नहीं है घटपति की शक्ति है अंपति की शक्ति है और घटम ये समुदाय की शक्ति नहीं है अवयव शक्ति से यदि अर्थ हो सकता है समुदाय की शक्ति नहीं मानी जाती है घट की शक्ति अंपद की शक्ति है उसे भी शब्द बोध हो जाएगा तो घटम पद की शक्ति नहीं है कृत अवयव शक्त्याव प्रयोग संभव है समुदाय शक्ति जैसे घटम की समुदाय शक्ति नहीं इसी प्रकार उपनिषद शब्द से न कल्पनिया उपनिषद शब्द की शक्ति अलग एक उपनिषद शब्द की शक्ति नहीं है उपनि अलग है सदृ धातु है कोई प्रत्यय अलग है सबका अर्थ अलग-अलग होकर के उपनिषद शब्द का प्रयोग हो सकता है इसलिए अभी क्या उसमें अवय में उपनि सद धातु है इस अवय में क्या अर्थ है किसके कारण उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या कही जाती ये आगे प्रश्न करते समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द से न कल्पनिया इति आह पूर्वपक्षी कहता है केन पुनर्थ योगेन उपनिषदन विद्या उच्यते इति उच्यते किस अर्थ के कारण उपनिषद शब्द से विद्या कही जाती है ओम सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं कर